पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है वो काल के बंधन से छुड़वा देता है उसका क्या नाम है पूजा की विधि क्या है कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन महाराज कहें कोट यगस मेघ तय ना ही हो दीदार और अभिनी और बंदगी से पलम हो जा पाए तो जब अजाजील अपने लोग वहां पहुंचा विष्णु धाम पर विष्णु जी ने बोला भाई अजाजील तन तो तोड़ कर दिया बहुत कमाई करी रहे अखा हाँ महाराज खूब करी या करके भी न्यो नहीं कह मन करी न्यो कह महाराज थारी दया होगी ना मैं किसकी भक्ति करूं उन्होंने बोला हाँ जी खूब करी अब सौ सोची इसमें तो वो खुट्टा फेर गिट गया क्यों आधा नहीं आधी नहीं तन्य तो बताना भाई कड़वे वचन ना बोलिए अभिमान ना करियो यानी ये, ये लंबी दंडौत का यही प्रमाण है कि अहंकार रूपी राक्षस खत्म हो जाए अजाजी ने नो बोला महाराज विष्णु भगवान के इसकी नो परीक्षा तो ले ला कि नो कराया करता कि मैं भीतर भी जगह से नो बोला भाई तेरे में इतनी शक्ति है तो मनुष्य बना सकता है अगजी क्योकर बनाऊ नो कह दे मनुष्य है अग बन जाएगा अग देख ले तेरे में शक्ति है बनेगा क्यों नहीं उसने कह दिया मनुष्य है यानी नो कहते भी उसकी काफी शक्ति कम होगी होती है ऐसी बात नहीं है कमाई अपनी घटनी तीन लोग की व्यवस्था है अपनी कमाई न चाहे सीधी दिखा कर खा लो चाहे वहां बैठ कर खाओ अपनी खर्च होना भी रहा पर सतलोक का नहीं चलना महाराज के हम चौबीस से दिया तो थूक दे भी नहीं गरीबदास जी कबीर साहब कहें इनको तो हम देखते भी नहीं जिन सिद्धियां के ऊपर लोग यहाँ पर पूरे सद बनकर चले जाते हैं दुनिया पूजती रह जाती है अगले जन्म में वो पशु दुनिया में चले जाते हैं ऐसा प्रमाण कबीर साहब गरीबदास जी शास्त्र देते हैं तो जी अजाजील ने वो लड़का बन गया कंते ही नोबलाइस को इसको डंडौत प्रणाम कर दे एक लंबा लोट के ने इसने ना करो जी तो मेरा बनाया हुआ है विष्णु भगवान ने बोले रहा कर दे इसने डंडौत न तेरी सारी भक्ति जागी एक बेशक जा ना करूं इसने दे ओ अहंकार फेर जो का तो? महाराज कहें जय गोपाल दंडोत उठकर पैरा पर प्रणाम पर दुआ करो दल पाकते असला असली सलाह अड़बी त्रिलित करो है ना नमस्कार तो तो लगेगी ऊंचे रोज डंडो प्रणाम लो, लंबे लोटे जाओ कोई लाभ नहीं होगा अंत्यकरण से ईश्वर समझ के और ने भाव रह तो जूत मार गया तो भी चोखा पर लड़ना नहीं इसको आधीन भाव कह तो जी आजादी ना मानना विष्णु भगवान ने सोचा चल इसकी भी राख दो और दंडौत भी मान लूंगा इस बेचारे की कमाई नष्ट ना होगी एक छोटा सा वो बना दिया के नाम है गेट दरवाजा सा इतना नीचा जिसमें आदमी झुक कर निकला तो और वो दूसरी साइड में बच्चा खड़ा कर दिया विष्णु भगवान ने बोला अजाजील आ इस गेट के मां के लांगे परे ने दरवाजे में विष्णु भगवान अपने मुकुट शंख समेत चक्कर समेत नु होकर लकड़ गया निकल गया परली साइड में लेकिन आजादी ने बोला मैं सारी जानू सू तने और ठगे होंगे तो छलिया तो सह मैं तेरे छल कपट में ना हूं तो न सोचा सह कि मैं नाड़ नीची कर दू इसने दंडौत हो जाएगी यानी बद इतनी फेर खड़ी होगी इतनी मेहनत के बावजूद तो बंदी छोड़ कहते हैं कि विष्णु भगवान ने बोला भाई जातरे के से तीन से कुतरू आऊ हड़ और गदा बन जा जब तेरे मिया इतनी भी लगन नहीं बनी तो किस लिए क्या करता बंदगी इसलिए किया होगा कि अहंकार ना आ जावा और फिर भी आ गया <clears throat> जा जब हमारी बात नहीं मानता उस भगवान की नहीं मानी तो गदा बना अजाजी तो बंदी छोड़ महाराज कहते हैं कि हम ये बंदगी इसलिए चलाते हैं कि आत्म कल्याण हो और अहंकार खत्म हो जाए भाई और ईद यहां प्रमाण यह नौ देश है कि जो मैं आपको ये कह रहा हूं कि तम्बाकू ना पीना शराब मत पीना और फिर भी पियोगे मेरा नाम लेकर तो गधे की दुनिया में जाओगे बेशक भक्ति करियो चे मत अब यहां कहते हैं <clears throat> कि अजाजील बंदा इराना समोल सरे का वचन जिन किया अदूल जिसने विष्णु भगवान के वचन का अदूल किया मान्य नहीं हुआ स्वीकार नहीं किया तो वो ईराना गया कहते अजाजील की बंदगी पलमाई बहाई तो इस प्रकार कहते हो एक मिनट में खत्म कर दी उनकी इस प्रकार थारी भक्ति नष्ट हो जाएगी जिसने नाम लेकर बीड़ी शराब मास तमाकू प्रयोग कर लिया बोल सतगुरुदेव की जय क्या आप सुन रहे थे के बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज ने तमाकू के बारे में तथा और भी सभी विकारों के बारे में आगे कहा है ये भी तो आपने तमाकू के बारे में सुना तमाखू तलबदार जमका जमान हुका हमेश निष्पीव हिमान हवान हुक्का जो पीते हैं वो हवान बताए हैं गुरु महाराज ने दूत द्वारम भाई खुलक खाल धूम कंठ कमल मैला चिसम अंदरून सुरापान बंगी मटी मांस खाही सुरापान बंगी जो मिट्टी मांस खाही जो मांस खाते हैं दारू पीते हैं वह किसी भी जाति के हैं वो नीच हैं वो भंगी है और जो अच्छे काम करते हैं वो किसी भी जाति विशेष से हैं वो ऊंच है सुरापान भंगी मटी मांस खाही कक्कड़ तरस पी जम लोक जाही मूल मुख द्वार गंदा शरीर पड़े मार मोटी जम जड़े जंजीर कैफी कमल कूंज खेचे कमंद इला पिंगला दर रुके ब्रह्मरंदर जब ये कहते हैं गरीबदास जी महाराज दूसरा नुकसान यू है कि हम परमात्मा के दर्शन के लिए एक द्वार से अंदर जिसमें तिल जैसा स्थान है जो कि हमारे अंदर जो सुषमा द्वार खुल करके आगे जब चलते हैं तो सुई के नोक से भी बारीक एक स्थान है जिसमें से ईश्वरीय दर्शन होते हैं जब हमारी स्मृति वहां से चलती है और महाराज कहते हैं ये धुआं सबसे पहले उस ईश्वर के दर्शन करण की जगह अनुबंध करे ये धुआं इतना खतरनाक है जैसे हाथ पर हम जावे ओके में भी हमने देखे मेरे बूढ़े पिया करते हुए उसमें तीसरा हफ्ते में एक वो गज ठोकिया करते इतना डंगा लखड़ा रहता उसमें जबकि वो तमाखू वो धुआं पानी के मां का होकर जब आया करता है उस बारली नैब और उसमें भी इतनी जमा हो जाता है हाथ पर रम, रख रम जाता है जो हुक्का पिंजे उनका देखिया मन जिसी रची पावेगी इस प्रकार उस द्वार के ऊपर यू लेप कर देता है ताकि वो कभी भी ईश्वर दर्शन ना कर सकर गदा बनता रहे तो बंदी छोड़ महाराज कहते हैं कि जहां सुषमन सुराही अमी का जो द्वार सुषमना एला पिंगला और इनके बीच में एक बहुत बारीक नाड़ी है उसको सुषमना कहते हैं जिसके अंदर से योगी लोग अपने प्राणों को लेकर के अपने श्रुत नृत्य को लेकर के और फिर आगे चलते हैं कहते हैं उस असली स्थान को यू बंद कर दे से फिर यू कितना तून बना रहो ईश्वर दर्शन ना होंगे तो पशु जुनी में जाना होगा गदे और गदी की जुनी भोगनी होगी जहां जहां सुषमन सुराही अमी का जद्वार जहां गंग और जमुना सरस्वती किदार काशी और पटना गए जो प्रयाग अधर पिंड भरिए पितर जुनी त्याग देव दान भय ब्रह्म रूप जहाँ जोगी जगन्नाथ साहिब स्वरूप कहते तो ही नकली जो पिंड भरते हो नकली गंगा नाते हो ये नकली है असली गंगा अंदर है अपनी यानी जब ईश्वरीय दर्शन हो जाएंगे तो हमें सर्व लाभ मिल जाएंगे महोदित गाजे आवाजम आवाज देव पीपे जकी ना सराज देव पोखे न सराद अंदर इंद्री दोन आद आदम अनादि कटे कोट कुसमल लदे पद लगे पद समाधि यानी जब हम अंदर ईश्वरीय ईश्वर ये शक्ति को देखांगे तो हमारी जो सुरत नरत और मन और पवन तीनों वहां पर चारों जो वहां पर टिक जाऊंगी तो जब ये समाधि लगेगी यानी वो दर्शन हमने होने लाग जाएंगे चाहे खुली आख्या तो हो और चाहे बंद आख्या तो हो वो दर्शन हो जब इन आंखों से कोई सरोकार नहीं रहता ये खुली रहो चाहे बंद रहो तो कहते असली नहान और असली जगन्नाथ और इंद्रदौन का वो हमें जो पाप कटेंगे असली स्थान पर उस ईश्वरीय दर्शन की शक्ति के दर्शन से और कितना नहीं कट सकते अब बंदी छोड़ कहते हैं श्री मारकंडे बटे कृष्ण बाट रोहन्या रवनपुर नाहेज आठ ये अंदर कमल है हमारा जैसे दिखा रखिये सात और आठवें कमल को मतलब कहें ये आठों सरोवर न आए इन कमलों को खोजा उन्हें भीतर और वो वस्तु पाई जब ये सरोवर न आए यानी ये असली तीर्थ वो न आए जहां ढोल समुद्र महोदित मिलाप गंगा अक्षीर सागर जपो अजपा जा और फिर बता दिया कि जो हम सांस का सुमरण अजपा जाप जपते हैं ये इसमें सब लाभ हो जाते हैं गंगा क्षीर सागर यानी सब जो है ना अक्षीर सागर कहते हैं दूध का जो भरा हुआ सागर अर्थात असली वस्तु इस जात से प्राप्त होती है जहाँ राम लक्ष्मण भरत चित्र देख और सीता समूलम लखो उर्द्रेक यानी असली जो वस्तुएं हैं वो अंदर हम देखें विष्णु हम एक नाम देते हैं बंदी छोड़ में लिख रखा है दे रखा में उस नाम के जापते विष्णु जी के दर्शन होंगे वह दर्शन तो हो गए तो उसमें सीता जी के भी दर्शन हो गए राम के रामायण का भी लाभ मिल गया और वो जितनी हम कथाएं सुने से वो लाभ मिल गया अन्यथा नहीं हरिद्वार नाही जो कुंभ बद्री बिलासा खुलासा आरंभ गंगा गोदावरी मलमैल धोई अड़सठ तीर्थ ले बाट जोई नीम नीम पार मिश्रक सरजू नान धान नौधे निरंजन अरु दस दस धा प्रवान अब कहते हैं कि नौ धा भक्ति निरंजनताएं की है नौ धा भक्ति आपने सुनी होगी कि भक्ति युवा भक्ति तीन लोग के उपासक करते हैं भगवान राम ने नौ धा भक्ति भिलनी को बताई और भिलनी विष्णु तक की प्राप्ति का साधन बनाकर गई निरंजनताई का ये निरंजन आपको दिखाएंगे इसमें निरंजन का कितना बड़ा जुगाड़ है जब आपको ज्ञान होगा कि हम तो कहा भूल भुलैया बैठे थे बंदी छोड़ की एक बाणी इतनी गहरी है कि वेद के श्लोक जाना लेना आसान से पर इसको सुल जाना जिसकी आत्मानुभूति होगी इस उस ईश्वर की आप कृपा होगी बंदी छोड़ की वो इस बाणी में खोल लेगा और यथार्थ भाव को पहुंचाओगा निखोलनीय बतेरे मिलेंगे ऐसी बात नहीं जिस प्रकार वेदा के सरलार्थ में कर रखे पांचों ने पर कोई से का कोई से तो जो का तो नहीं मिलता फिर भावार्थ नहीं मिलता अपनी बुद्धि अनुसार जो इरादा उन्हें रखा उसका भावार्थ वही काट के दर दिया अब घोड़े वाले जीव कौन से सतमान माने कौन से न सतमान माने ये कमजोरी आ गई यहाँ कहते हैं नीमा नीम पार मिश्रक सरजू नहान ध्यान सरजू एक नदी है उसको बहुत पावन बताते हैं स्नान करने से बहुत लाभ हुए महाराज के नौ दिए निरंजन और दस दा परवान गिरदास जी महाराज कहते हैं नौ दा भक्ति ना तास पे ना दस दास हित और वो राने जावेंगे जो भड़बूजे का रेत कि जिस प्रकार भड़बूजा सारे काम ने ले लिया करो उस रेत ते और उबाले जागा उसने पहले और चाल ध्यान बगा जाता रहेगा अर्थात उस रेत ने तो जलन जलन की है अब काल हमारे को यहाँ अपना सारी व्यवस्था बनवा रहा है बच्चे भी पैदा करवा रहा है मोह ममता ला के पड़वा भी रहा है और जी कर उसने काट भी ले जाए हम तो पशुओं की तरह थोड़े दिन रो पीट का अपना शांति कर लेते हैं अच्छा माई मना लेंगे बरसों दी सील शांति होगी फिर इतना दूसरे का नंबर आ लेगा या रिश्तेदार मारा होगा कि तो महाराज कहें जब तुमने न्यो बेरा इस बात का कि तुम किस वास्ते यहाँ बंधे बैठे हो शाम तक का किसी ने भरोसा नहीं कि तेरे यहाँ के बन जाएगी तो क्या पराजी हुई अर्थात ये सारी व्यवस्था काल की और काल निरंजन तक की व्यवस्था है निरंजन के अधीन तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश माता तक हैं इनकी उपासना से भी आप कति मुक्त नहीं हो सकते तो यहां बंदी छोड़ महाराज कहते हैं कि नौ धे निरंजन और दस दहा परवान नौ दा तक भक्ति निरंजन की दस दा बंदी छोड़ की मान सर्वर अमर हंस नाही पदम कोट झलके कल वृक्ष छाही ऐसे दरीबे मल ऐसे दरीबे अमल की जय चाह गहे गोर गारत पाई न था जो केवल ही समलन और दे रह गए उनकी दुर्गति हुई उनको कोई वस्तु प्राप्त नहीं अब कहते हैं उस हुक्के को फेर लेते हैं तू लंगर तू लंगर लंगड़ा और झूठा लबार अमली के मुख में मूत की धार मूत्र की धार यम के दूध कहते वहां पर इसका मुंह में मुतेंगे जो हुक्का तमाकू शराब पीते हैं और फिर नो कहेंगे ले बेटा तो कड़ुआ पिया करता ना इव कड़ुआ ले कहते हैं बंदी छोड़ के कड़वा ही कड़ुआ तू करता हमेश कड़वा ले प्यारे इब कड़ुआ ही पेश यानी ईब तू खूब कड़ुआ पी ले पेशाब अब भाई देखो इसकी काली नहीं माननी ये बंदी छोड़ की वाणी से परमात्मा की वाणी में यथार्थता होती है हमने सेवा तो कड़वी भी लगे अपने अमल अनुसार अपने जो स्वाद अनुसार बाड़ू की रेती के होते पलाव खाते हैं अमली जम दे गिलाव रुधिर की नदियां जय काली कुलीन डूबे हैं अमली जो दरिया मदमीन वहां लहू की नदियां बहती हैं नरक में और उसमें उसमें जैसे दरिया में मीन मछली रहती है ना इस प्रकार उस लहू की नदी में ये लोग जो भक्ति नहीं करते और दारू तक पीते हैं मांस खाते हैं और ओका पीते हैं थोड़ी सी तेज उनकी गेला यह बनेगी कि वो फिर उस लहू की नदी में नरक के अंदर पड़ेंगे जाकर जाते जाते रसातल कुसातल के माही ये नरक बताए हैं रसातल कुशातल असंख्य असंख्य जुग जन्म जाही छूटत नाही तमाखू तरक कर गर्क कर करहोद और ममता मनी मार सुन सार बोध कामी और क्रोधी तो लोभी लबोट और बचन मेर बचन मान मेरा भाई धूमा ना गूट धूमे ने पी कर गए तीन होंगे धुमा पीकर भीतर बैठा ग्रह में गटक कर फिर बार न काट देंगे वो विशेष आनंद महसूस करते तो बंदी छोड़ महाराज कहें कि वचन मान मेरा तो ना घूट अर्थात पीव मत ना इस तमाखू को बड़वे भयानक अचानक अचूक डर है सूत्र दे फिर खाते हैं रूख फिर कहते हैं सूत्र कहें ऊट को फिर ये ऊट की दे धरेंगे और रूख खाओगे मतलब कांटेदार जैसे बबूल खानी पड़ेगी ये सतकर मानो जो सतगुरु ने कह रखी वह झूठ नहीं है बीरा भाई हमारा नहीं विचार मान दी तो ये अपनी मतलब कर्महीनता से हमारे जो खोटे कर्म से हमने भक्ति की तरफ लागण नहीं देते और ना या रुचि कर बनती तुलसी साहब कहते हैं तुलसी पिछले पाप तय हरि चर्चा ना भावे जैसे जबर के बेग ते भाई भूख बेदा हो जा जो बुखार जिस पर हो जा उसने रोटी नहीं सुहाया करें किसमस हलवा पूरी कितनी बढ़िया चीज दे दो सेब किशमिश कुछ भी दो मुनखा दाक यूं कहेगा मन तो जहर कैसी लगे और जब स्वस्थ हो जाता है तो वो सूखी भी खा लेता रोटी इसी प्रकार जिसके पाप कर्म ज्यादा प्रभावी हैं आज चाहे वो पिछले संस्कार वो कितना सुखी महसूस करता हो अपने आप को अच्छी नौकरी भी हो कार भी हो कोठी भी हो पर यह आज्ञा काम कौन दे जिसने ईश्वर चर्चा नहीं अच्छी लाग दी उस बीमार की तरिया है जिसने रोटी नहीं स्वान दी तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा ना भावे जैसे जवर यानी बुखार के बेग भाई भूख बेदा हो जाए रोजाना दो दो भाई खान की वस्तु और उसने भी रू नहीं करती तो वो बहुत पाप कर्म से ग्रस्त है यानी बुखार से ग्रस्त इसी प्रकार परमात्मा जन्म सौ सौ याद करण की चीज और हम सौ जन्म में भी एक बार नहीं करते तो महा बुखार यानी पाप कर्मों का हमारे ऊपर प्रभावी है अच्छा फिर क्या बनाकर जो लक्षण बताए कबीर साहब ने और संतों ने कि जो पापी जीव होगा कहता सत्संग में आया नहीं करे आ भी गया तो ज्यादा देर नहीं बैठा करे और किसी मजबूरी के कारण आ भी बैठेगा तो नहीं रखेगा इधर की उधर वो बोल पड़ेगा के कर रहा से यानी फुसर फुसर रखेगा और कह उंगण लाग जाएगा लटके लेगा और फिर उसने नो कह जाएंगे भाई बोल जा नहीं करें सत्संग में सुना करें मरोड़ सी करके दर का कंधे बचा दर चाल पड़ेगा जानो बहुत बड़ा किला जीत चाल है और परसों सुनाएगा तो मर गया रहा अगली फिर ये बतावा के बनेगी उस भाई बाण गे महाराज कहते हैं कबीर हरि के नाम बिना या नार कूतिया हो और गली गली भौकत फिर फिर टोकना ना डाले को उस गेला फिर न्यो बनेगी कबीर बीबी पढ़दा रहे थी गरीबदास जी महाराज के बीबी पढ़दा रहे थी और डोडी लगे थी बार इबो अग्गा तू तो गाड़ी फिर ऐसा बन कुतिया बाजार वह राजा की रानी और पड़दा मर डोडी कर लग गया करती एक ईश्वर को ना भजने से आज उस भगवान गेला न्यो बनी के ओड टूकी की खातिर और धर्मशाला में जरा झूठी पतल मिला करे उड़ान डेसवा किसमिस के हलवे खान वाली रानी अब बंदी छोड़ कहे वह तो हमारा नहीं रहा हमारे मबूदी हमने बेरा से कितनी से तो बंदी छोड़ कहते हैं कि यो दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर इव गा तो गाड़े फिर सवा करे सरा मोर नक बेसर नक पवनी पर थी हार हमेल और सुंदरी से कुतिया बनी सुन साहेब के खेल एक थोड़े से काम बिना कोर्ट मुकदमा मोल लिया तो इस प्रकार जिसने या चीज अच्छी नहीं लागती ईश्वर की कथा परमात्मा का भजन या नाम तो उसके माड़े कर्म बहुत तगड़े प्रभावी है इलाज उसका यू है कि ना चांदी हुए भी आवश्यक सत्संग दवाई खाकर कोई खुश नहीं होता कड़वी भी हो पर बेरा पट जाना वही तो बीमार सर इस बिना नहीं कटा हुआ खानी पड़े इंजेक्शन भी लुआने पड़े ऑपरेशन भी करवाना पड़े पर जिस न्यूनी जचरी ऋतु बीमार है तो वो तो कितना गुमो तो इसी प्रकार संतान कुछ लक्षण बताए हमारे कि ऐसे जो व्यक्ति हैं उनको ईश्वर चर्चा नहीं अच्छी लग यहाँ रागनी कंपटीशन होंदा आप देखते नो कह हाँ जी उड़ा करना पड़ेगा तो स्टेडियम में आड़ा नहीं नोड़ा इतनी दुनिया होगी अरे सत्संग में अमरुके मार मार छिक लिए छह दिन हो गए भाई वहां सत्संग से चालो रहे सत्संग से ये कितनी संतात्मा है भक्तात्मा ये ये बस की बात नहीं जिनके पुण्य कर्म उदय होते हैं वो अच्छी जगह सुसंगत में जाकर जो कर्महीन होते हैं वह दारू पीणिया द्वारा बैठेंगे बीड़ी पीण सीख जाएंगे फिर रही कई समय पर मांस भी खान लग जाएंगे वो उनके माड़े कर्म उनको वहां खेच रहे अगर एक भी भक्तात्मा की बात पर जरा सा भी विचार कर ले तो जरूर सत्संग की रुचि परमात्मा की चाहने की इच्छा अवश्य उत्पन्न होगी तो यहाँ बंदी छोड़ महाराज कहते हैं कि वो अगले जन्म में जो होका पीते हैं ऊंट बनेंगे आपको आख्या देखी बताऊं सो कि एक हमारा जो है ना रिश्तेदार ला लो या किसी प्रकार तो उसके में गया हुआ था उसने एक ऊंट ले रखा और ऊंट को सुबह हमने कहीं जाना था हम अभी जल्दी चलना होगा उन्होंने बोला उन्होंने खाद की गाड़ी पर रखी है ऊंट की रेडी इसने डाला हूं वक्त से उठ फिर चल पड़ूंगा अन्य फिर मकई दंता फारिग माँ ठीक तो वो सुबह उठा बखत मेरी भी आंख खुल गई मैं लेटा लेटा अपना वजन करने लग रहा तो उसने क्या किया बीड़ी चासी खुद पिया करता हो वो वैसे गया था मैं उसके पास तो बीड़ी पीकर धुमा थोड़ा ऊंट का नहीं और ऊंट में जोड़ रहा उसका माँ उस रेडी में ऊंट रेडे में और ऊट अपनी एक तरफ खींचे जो फटफड़ फटफड़ नासा न करे भीतर न खींचे ओ छोडर ओ जब तैयार रह जाने धूमा यार तो खींच ओ अपने मुंह में छोडर ओ खेचे न फटफड़ फट कर रहा हम की साका हो रहा तेन पांच मिनट होगी देखू जाकर मैं जोड़ भी लिया था ईब खड़ा किस लिए मैं उठ कर गया तो तमाशा देखा पहना दूंगा मैं यू के करे भाई ने बोला मेरा ससुरो ना ऊट एक बीड़ी रोज पीवे जब चल लेगा मैं बोला भाई यू फिर भी ना चल जाता है ऐसलो दे दो ठोकूंगो ठा दोगा ना के ऊपर चल बोला मैंने लिया ना जब उसने नो कही थी कि एक बीड़ी इसने रोज प्या दिए फिर तुम दुखी नहीं करे जब भी जो टाला हुआ यानी चाल जो तो बंदी छोड़ की ये बाणी सिद्ध हो जाती है कि अब बंदी छोड़ महाराज गरीबदास जी कहते हैं जो होका पीते हैं वो क्या बनेंगे कि बड़वे भयानक अचानक अचूक अब देखो सब अपने ठाठ महसूस कर रहे हैं और एकदम टुड़क देगी और अकाल वो बैठा था वो मर गया हमारे गांव का हमारा पड़ोसी बहुत अच्छा आदमी था प्रेमी भी था असमुख भी था पर नाम राम नाम तो इतनी चढ़ थी तो बोला तुम नहीं बना रहे थे और हमारा पाठ होया करता महेंद्र करवाता है वहां गाँव में और कति शामी घर से गाड़ का मार ओ ढोका धर कह नौकड़ ला के पींदा हम लोग जरा दो बड़ा आड में तो पी ले हल्ला है यह भी कोई शर्म की बात है देश पीवे है तुम ना पियो भाई हम जो तुमने कहा सा पर मारा पनीर हुआ है नौ सौ बालक छोटे हैं ये बेचारा बीस एक दिन हुए खेत में था था सुबह हार्ट अटैक होकर मर गया और बहुत समझा करते राम नाम ले ले भाई कुछ नहीं जरा सौदे में <laughs> बालक से नहीं छोटे छोटे गुड़ ये तो हमने सोचा हा नाम तो लिया कति फूस हो ले जब यानी बूढ़ा तो होले साठ साल तो ऊपर बूढ़िया होले सत्तर से तो भी ऊपर और गणा बढ़िया उस समय कोई भक्ति का स्थान रह समय रह जाए चलो ठीक है ना तो, तो उसमें भी अच्छा है पशु दुनी तो, तो बच जाएगी पर बचपन का लाग जाए तो बहुत अच्छी बात तो यहाँ कहते हैं कि भड़वे भयानक अचानक अचूक वो अचूक होगी फिर के हैं कि धर है सूत्र दे और खाते हैं रूख फिर वो सूत्र कहते हैं ऊंट में वो फिर ऊंट की दे धरेंगे और फिर रूख सड़ेंगे ऐसे लड़ते हैं ना खाते मुंह में दे के तो उनके लिए हलवे फिर कौन बने जैसे काल आप सुना था नर से ती तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाही ये छप्पन भोग कहा मन बोरे कि और भी चरने जाए कि तो गधा बनेगा बैल बनेगा तो इस प्रकार सतगुरु एक और छोटी सी बाणी सतगुरु महाराज की हमने इसी मत ले रखी है वो आपको सुनाते हैं कहते हैं सौ नारी जारी करे सुरा पान सौ बार एक चिलम होका भरे वो डूबे काली धार पान मदमाशा हारी भाई गमन करे वो गय पर नारी सत्तर जन्म कटत है शीशम साक्षी साहेब है जगदीशम फिर कहा के ग्रीब होका हरदम पीवे ते लाल मिला में धूरे इसमें संशय नहीं जन्म पाछले सूर्य अब जो लोग कहें हमारे को होका छूटता कोई जो छोड़ दे वह तो आए हैं मनुष्य जन्म से शराब होका सुल्फा अफीम और जो नहीं छोड़ सकते वो पिछले जन्म में सुअर थे गंदगी सूंघन की अंतकरण में ज्यो की तो वासना जमा है और जो छोड़ देते हैं नो कहे हम नहीं रू भी नहीं करती आपको यहाँ बता देंगे कम से कम भी सौ डेढ़ सौ तो यहाँ आए हुए होंगे जो नो कह देंगे कि रू भी नहीं करती हमारी जिस दिन से हमने दारू और शराब बीड़ी छोड़ी हुक्का छोड़ा और जिन जिसने बीस साल पच्चीस साल दस साल दारू पी ली उनको डॉक्टर भी छुटवाने ध्यान हरकत ना करें और बंदी छोड़ की कृपा से सबका छोड़ रहे या शक्ति साथ है बंदी छोड़ की जब छूटा है और उनको कोई नुकसान नहीं होता ना शरीर में कोई दुख होता छोड़ने के बावजूद तो ईश्वर का चमत्कार ये साथ है एक कह रहा है शीतल नगर में एक लड़का ने बोला डॉक्टर ने बोले तुम तो बीडी पिएगा ना तो मर सकता है तो दवाई खाता है उन्होंने बोला मेरे को जब भी नहीं छूटी और एक दिन सत्संग आपका सुना था उस दिन पाछा मेरी रूह नहीं करती उन्हें नाम ले लिया और पाठ करवा देता तो ये सतगुरु की कृपा भाई बंदी छोड़ कबीर साहब ये अनंत कोट ब्रह्मंड के परमात्मा गरीबदास जी एक शक्ति गरीब सोनारी जारी करे पान सो बारे एक चलम हुक्का भरे डूबे काली दारी गिर सूर गऊ को खाते हैं दोनों को लेकर हिंदू और मुसलमानों को हिंदू सूर खावे वह गऊ खाते हैं गिर सूर गऊ को खाते हैं शंका नहीं से शंकर से सतगुरु मिले तो न लगे उपदेश बंदी छोड़ने का है कि वो व्यक्ति जो कति गर्क हो चुके हैं जो पिछले संस्कारी नहीं है उनसे शंकर के से महान आत्मा खुद परमात्मा तीन लोग के आकर भी समझा दें कि यह बुरी चीज है तो भी नहीं मानेंगे इंद्र सोर गऊ को खाते हैं भक्ति बहुने राड बांग तमाखू खा गए सोचा बत है आड फिर वो कुत्ते बनेंगे और आड न मुंह देकर और चाबे जाएंगे अपने दांत फुड़वाएंगे और अपने जीवते अपने लोहू का चस्का लेंगे गिर तमाखू बांग पीवे ही मदरा हारे सूर की आवे लगे चोला धरे चमार अब बंदीश्वर महाराज कहें जो तमाकू भांग पीते हैं गोसत खाते हैं वो जब लग स्वर्ग लकड़ा और छपेगी जब मनुष्य जन्म कभी हो भी गा तो उसकी चमार की जो नीम जागा चमार किसे कहते हैं अब हमने फीत ला रखी है जिनके पूर्वज को पत्रे पहुंचा करते भाई अपने विद्वान थे उनको पंडित कहा करते अब उनकी वंशजा ने पंडित कह दिया वहां तो हम फीत नहीं कार्य हमने और चमार जो पहले आज से 200 वर्ष पहले क्या व्यवस्था हुआ करती ये चमार की तबार तो को डाय ईश्वर जात मत को जाट था को ब्राह्मण जो बेचारा की नहीं और छूट को मेरे के साथ कटिया था उन्हें सोची चाल न तू पाड़ लाए खोल लागी खा ले मरी पड़ी है और अपनी जूती बना गाठन लागे तो उन कर्म करने वालों को चरमकार कहते हैं ईद कर लो चाहे जाट हो चाहे ब्राह्मण हो फिर भी चमार को होगा यानी उस कर्म को करने वाला ही चमार कहलाता है उस समय की व्यवस्था थी कि उसके हाथ दस जाया करते उसको खाल तारता वो मास्टर साफ करता फिर ग्रास सुखांदा तो बदबू माखी चिपटी गंती उस व्यक्ति से फिर आम व्यक्ति थोड़ा दूर कटन लाग गया थोड़ा छींट ना लाग चलो उस समय की व्यवस्था कोई आलो उसने नहीं नफरत कर लेंगे चाहे जेर ले रहा है तो उससे दूर क्या हो लेंगे जिस जो महस डुआई हो उसके कपड़े लाग रही हो तो उससे भी आदमी टड़का चाल लगा करे माए ना लाग जाए और ईब उन वंशजा ने काम भी छोड़ दिया बेचारा की तीन तीन चार चार पांच पांच पीढ़ी होली जो उस काम ने नहीं करते हुए बीचमार को हमें देख तो के वा काम ला रखा यानी हमने फीत नहीं तारनी अच्छा वैद होया था कोई उनके जितनी संतान हो सब ने वैद लागे गई उनका पीछे वैद लगावा और पेट के दर्द की दवाई नहीं जानता हर हो बिनो का फलाना राम वैद तो वह फीत ला रहा कि वैद नहीं है ईब हम जिसने चमार जाति मान रहे चमार नहीं है जो उस कर्म को करता है वो चमार से यानी उस कर्म के करने वाला ही चमार कहलाता है तो इसी प्रकार महाराज कहते हैं कि उस समय जो बहुत गर्णीय हालत होया करती उस व्यक्ति की तो ऐसे दुख में वो सदा रहेगा जो बीड़ी शराब मास्तमा को पीता है और चमार को एक विशेष व्यक्ति विशेष को नहीं जैसे जाति की फीत हम कबीर साहब ने नहीं लाई ना उदासियन अब कबीर साहब खुद जुलाहा थे लेकिन मुंह बोले वो ब्राह्मण ब्राह्मणी थे मुसलमानों ने जबरदस्ती उनको पानी पिला दिया था अपना यानी मुसलमान बना दिया उनके पिताजी माता पिता को जो मुंह मुंह बोले थे और उन्होंने टाणी का काम शुरू कर दिया वो ब्राह्मण होती है जुला को आए एक जाट चनाई का काम करे हमारे पास वो ठेकेदारों के पास करता था नहीं हम बैठे थे एक दिन पूछने लागे भाई तू किचका मैं फलाने का दंगी मैं डंगी हो को कुरबाई तू मिस्त्री अगजी मैं बचपन से काम सीख लिया तो उसने उड़ा मतलब वो खाती कहे हैं जाट नहीं कहते कोई भी अगर वो खाती उड़े ना वो मिस्त्री उड़े ना मैसन तो हम कर्म से कहलाते हैं एक व्यक्ति कह था कि मैं फलानी जाति से हूं उस जाति से और नाई की दुकान खोल रखी तो नाई कहें उसने कोई वो नहीं कहता तो मतलब ये कर्म से बनी है आज कर्ण लाग जो आपको उसी नाम से आपको संबोधित किया जाओगा तो यहाँ बंदी छोड़ने एक वाणी को कहा पर उसको समझाने के लिए अज्ञानी आदमी जो कहे तो जात पात को कह कभी नहीं कहा बंदी छोड़ो ग्रीब भांग तमाखू पी में ही सोरा पान से एत गोसत मिट्टी खा कर वह जंगली गुण परेत पान तमाखो ही और नाक नाश में देहते जो सूंघती हैं बुढ़िया इनके लिए भी खतरा है पान तमाखो ही जो पान तमाखू खाओ है ना मुंह मचाबते चाबते हैं वो भी हानिकारक है और नास नाक में देहते सो तो ईराने गए जो जे का तो बिरबान तमाखू पीवे ही गोसत गला कबाबे मोर मर्ग को बरकत है देंगे कहाँ जबाबे सुरापान मदमासा आरी गमन कर भोग पर नारी सत्तर जन्म कटत है शीशम साक्षी सायब है जगदीशम बंदी छोड़ने का अपने भगवान की कसम खा के कहूं सो उसको साक्षी करके कहता हूं जो ये दुष्कर्म करता है उसके सत्तर जन्म सिर कटेंगे पर द्वारा स्त्री का खोल सत्तर जन्म अंधा हो डोल मदरा पीवे कड़वा पानी सत्तर जन्म समान के जानी इतरा जीव के है बटे उगण के पीवे है का भाई दारू नहीं पाई था कोई चौधर नहीं कोई सेवा नहीं और फिर बेटा फटेगा चौधरी का <laughs> जो है ना अपला तुन्नी का मदरा पीवे कड़वा पानी सत्र जन्म सवान कुत्ते के जानी झोटे बकरे मुर्गे ताही लेखा सब ही लेत गुसाई जितने भी जीव तुम मारते हो नो हिसाब पाओगा मर्ग मोर मारे मैं मनता अचराचर है जीव अनंता जीव स्वाद है ते पर नीमा नाश गया हम जाने जो अपने स्वाद की जीव के स्वाद के लिए बकरीद चलाते हैं या त्योहार मनाते हैं जब कोई ऐसा मास प्रयोग करते हैं कि उनका नाश जागा ये सत बताऊं यहां नहीं तो अगले लोक में उसकी वाह दुर्गति होगी कि ये असलता तो आड़े बन देगी उसके ना चौकी और रही खी फिर वहां बनेगी तीतर लवा बटेरी चिड़िया खूनी मारे बड़े अंगड़िया अदले बदले लेखे लेखा समझ देख सुन ज्ञान विवेका जैसे कर्म करते हो वैसा भोगना होगा और फिर भी नहीं मानते गृह वै शब्द हमारा मानियो सुनते हो नर नारे जीव दया बन को फर है चले जमाना आरे कि भाई बिना इस दया के जीव का दया नहीं करते तो वो भी तुम्हारी हार से नुकसान में जाओगे ऐसा सतगुरु महाराज ने हमें बताया अमली अलह के जय नारद नरेश और ब्रह्मा विष्णु ध्यान शिव और गणेश असली अमल यू है कि भगवान के नाम का अमल करो जिस प्रकार नारद जी खुद ब्रह्मा जी भी विष्णु जी भी गणेश जी भी उस परमात्मा के नाम का अमल कमाते हैं भगवान शंकर को आप देख रहे हो समाधिष्ट होकर के ईश्वर का रसपान कर रहे हैं विष्णु भगवान भी शेष सैया पर लेट कर ईश्वर याद करते हैं और ब्रह्मा जी भी अपने एकांत स्थान पर ईश्वर भजते हैं उस वो ज्योत निरंजन को का जाप करते हैं जिसे ब्रह्म कहते हैं ओम जाप के साथ साथ जैसे आप देखते हो किसी भी मंत्र के साथ आप देख लो ओम नमो नारायण ओम भागवते वासुदेव नमः ओम फलाना ओम नमः शिवा है तो ओम जाप इस मंत्र के साथ लगाने से ओम का ही लाभ मिल रहा है नमो नारायण का नहीं अब इस बात ने सुनकर कोई खुश नहीं बल्कि महसूस कर सकते हैं कि ये तो क्रिटिसाइज करते हैं क्रिटिसाइज नहीं होता नारायण शब्द का अर्थ है नार जमा में आयन नार कहते हैं पानी को आयन कहते हैं जो उसमें निवास करे जो जल में निवास करने वाले को नारायण कहते हैं अब जल में तो मछली भी करें जल में कछुए भी करें और जल में पेड़ पौधे भी हो सकते हैं अब किस नारायण का आप इशारा कर रहे हो इस नारायण का ओम लग गया तेन सोच लो ओम वाला लाभ से नारायण का लाभ नहीं है लेकिन हमने शुरू से सुना है कि नारद जी भी नारायण नारायण कराया करे वो चाहे कुछ भी करते हो असली नाम मंत्र कुछ और है जो ये जाप करते हैं भगवान शंकर भी विष्णु जी भी कबीर साहब कहते हैं कि हम गरीबदास जी कहते हैं हम बैरागी ब्रह्मपद सन्यासी महादेव और सो हम मंत्र दिया शिव जी को वो करे हमारी सेव हमने इनको कहा बेटा यू नाम सो हम नाम जपया करें जब तेरे छुटकारा होगा यानी कुछ शक्ति मिलेगी विष्णु भगवान को हमने बताया कि तुम तो हरियम नाम जपया कर और ब्रह्मा जी को बताया कि ओम नाम जपया कर और इस माता शेराणी तो कहा कि तू श्रियम नाम जपया कर गणेश जी को कहा कि तू तो किलियम नाम जपया कर अब जिन नामों को ये जाप करें और हम भी न करें तो हमें उन आला लाभ साथ मिला जिनको ये याद कर हम उनको करते हैं और ये सत नाम है इन सब देवताओं के पर ये काम जब करेंगे जब पूरे गुरु से मिल जाए ये नहीं मिलेंगे तो हम आपको महाराज गरीबदास जी की ब्रह्म वेदी को तो कल समझावांगे और साथ में कबीर साहब का एक शब्द है कि करने नो दीदार महल में प्यारा है जिसमें मूल कमल से लेकर और आखिरी कमल तक जो कि आपको नरे नरे बताए जाऊंगे शहर सरार कमल से भी ऊपर बहुत कमल है लेकिन आज तीन लोग के योगियों के कोई शास्त्र ठा के देख लो कहेंगे शहर सरार कमल से ऊपर कोई मतलब है, कमल नहीं है ना कोई ईश्वर है जब ये वहां तक की पूरी बतावर जो की तो बतावर अनपढ़ जिन शास्त्र ठा के भी नहीं देखे और वो जो की तो शास्त्र भी जो की योगियों की बतावे और फिर अगली भी बतावे तो दोनों सत्य की पर जिसने जहां तक का ज्ञान है वहां तक सत्य है तो अगली भी झूठ नहीं होती उदाहरण दिया था जैसे हम दिल्ली तक जावा रो तक थे और सारे स्टेशनों का या, नाम याद से और दूसरा भी जा रहा है उसमें भी याद से और वो हमने नो बता दिया कि इसका आगे बम्बे तक के ये और स्टेशन आते तो वो झूठ नहीं बोलेगा क्योंकि ये जो के तो मिला और मन ने वो देख नहीं रखे तो मैंने को झूठ बोला तो मेरे कैसा बेवकूफ नहीं कि दिल्ली तक स्टेशन है ना से तो ये उनकी अपनी कमजोरी से इसी प्रकार सतगुरु महाराज ने पूर्ण रूप से हमें बताया अब सबके साथ बता करके बंदी छोड़ अब कहते कलमा पढ़े और कलीना ही दर गए शरीर में जिन्हें छोड़ नाही कलमा पढ़े वो बकरीन काट के और कलीना जो खाही दर गए शरीर में जिन्हें छोड़ नाही काफर हम काफर दहू दीन बेस्ती ना कोई अब महाराज कहें काफिर तो ये दोनों धर्म है कौन से दोनों धर्मों के व्यक्ति जो ओछी उपासना करते हैं गलत मार्ग दर्शन करते हैं उनको दोनों को काफिर का काफिर दहु दिन भिष्टी ना कोई स्वर्ग में जानिया कोई नींद मत बेस्ती सोई जो अल्लाह का होई अल्लाह का कौन होगा जो इन विकारा न छोड़कर सच्चे नाम का जाप करेगा खालिक अल्लाह आप होगा तराज मुल्ला हक बोले जो झूठी आवाज महाराज के हक हक में बिल्कुल सही कर रहा हूं और गलकाटा बकरे का महाराज के हक हक कर हक हक करत है बेहक कर दाजा बेहक शरेआम करे बकरे का गल काटा है नो हक अल्लाह है वो हक बोलता है खालिक खलक आप होगा तराज मुला हक बोले सो झूठी आवाज काफर दो दिन बिस्ती ना कोई बेस्ती सोए जो अल्लाह का हुई हिंदू मुसलमान माटी मलिन काफर सृष्टि में सही दो दिन जो ये काम करते हैं वो किसी धर्म के भी हैं वो काफिर हैं यानी बुरे हैं कलमा पढ़े और कलीना जो खाही दरग सरी में जिन्हों ठोड़ नाही अलह अलख साहेब सकल में समूल सथावर जंगम बीच ना देख भूल साहेब सलेमान दिल बंक है आही हुई पाग बंकी और चली फौज नाही अब कहते हैं शैतान कल में अजाजीर कीन और फजल में हर तूफान आई आधीन हिंदू हर हित बोले जो राम और बैरा बक्षण जपे कृष्ण नाम महाराज के हूं तो राम राम करे कृष्ण का नाम भजे अरुण तो बरहा खाते हैं यानी सूर का मांस खाते हैं खरगोश बकरा मर्ग मार भून और साहेब धनी बिन खाली ना जून कि उस परमात्मा के बिना कोई भी जीव खाली नहीं है तुम मनुष्य नहीं खांदे और बकरे खाओ तो परमात्मा के बकरे और बकरी में और मुर्गी में सब में ईश्वर विद्यमान है उसकी जूनी उसके जीव है इस प्रकार वैसे बहुत लंबा चौड़ा वर्णन है समझदार नहीं सारा है बहुत है भाई ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं तो अब हम आपको एक शब्द सुनावागे जिसमें सतगुरु बंदी छोड़ गरीब दास जी कबीर साहब महाराज की महिमा होगी और जब तक हमने इष्ट के बारे में जानकारी नहीं होगी कि ये कितनी शक्ति के थे तो हमारा भजन करने भी रू नहीं करेगी अब रामकृष्ण का जाप हम क्यों जपते हैं इनको भगवान स्वीकार किया इनकी महिमाओं को सुनकर इनकी लीलाओं को सुनकर और तीन लोग ताए कि इसमें सत्य है कि ये परमात्मा है इनसे ऊपर के भगवान कबीर साहब हैं गरीबदास जी महाराज हैं जो हम आपको बिल्कुल सही ढंग से बताएंगे तो एक भगत को संशय होती है कि कहीं काल ना खा जावे तो आत्मा धिक्कार कर कहती है अरे मूर्ख मनवा सतगुरु बंदी छोड़ की शरण में आकर भी डरे काल के बंदी छोड़ गरीबदास कहेंगे सतगुरु शरण आय के धर्मराय डर कैसा ये तीन लोग के लेखा जोखा करने का भी कोई भय आपको नहीं है सतगुरु शरण में आकर कहते हैं धर्मराय दरबार में दे कबीर तलाक मेरे भूले चुके हंस ने तुम पकड़ियो मत कजाक गरीबदास जी महाराज कहते हैं मेरे को लेकर बंदी छोड़ कबीर साहब और प्रथम उस लेखा जोखा करणिया दो रह गए और वहां जाकर वो लेखा जोखा करणिया जो कर एस का आगे थानेदार कुर्सी छोड़ कर खड़ा हो जाया कर अरने बाहर आ गया जिस प्रकार मुख्यमंत्री के सामने डीसी बाहर आ जाता है और वहां जाकर के कबीर साहब ने बोले धर्मराज अखा महाराज के दानते सुन ले मेरे जीव ने ना छेड़ दिए जिसमें मेरा नाम ले रखा हो उसका लेखा भी मत करिए मेरे पास भेज दिए उसमें महाराज को सुनाएंगे आपको हम पारक के अंग उसमें है ये अचला के अंग में तो कहते हैं धर्म राय दरबार में दे कबीर तलाक मेरे भूले चुके हंस को छेड़िए मत कजाक कहते हैं धर्म राय विनती करे बोले पुरुष कबीर से धर्म राय कर जोड़ और धर्मराज हाथ जोड़ कर बोला तुमरा हंस ना चंपा हूं मन दो ही लाख करो आपके हंस ना नहीं छेड़ूंगा मैंने लाख दुहाई बंदी छोड़ फिर ने बोला जी पान मदमाशा हारी और गमन करे वो गह पर नारी आ, फिर कहें के बंदी छोड़ करके हाँ फिर कहते हैं कि बोले पुरुष कबीर से धर्मराय विनती करे सुनिए पुरुष कबीर जिनको निश्चय पकड़ूंगा और जड़ दो तोक जंजीर जो भांग तमाकू खाते हैं बुरा काम करते हैं उनको अवश्य मैं पकड़ूंगा तो बंदी छोड़ने बोले जिन ने मेरा नाम ले रखा वो जीव यू काम नहीं करेंगे हमारे अंदर यह शक्ति भी है कि हम उन तो छुटवा जाएंगे और वह जो ये काम करे उन तो बेसिक जूता पीटिए मेरा कोई आंख नहीं वो मेरा नहीं है फिर नौका ने कि ये तो कर्म जो से आखिर तक करते रहते हैं भाई नाम भी बजे और अपना धंधा भी पीटे और यहाँ का संविधान बना रखा है चौथे आश्रम में इसने कोई काम नहीं करना चाहिए अपना भक्ति करे तो कहते हैं कर्मों से रत हैं मुख से कहें कबीर जिनको निश्चय पकड़ूंगा और जड़ दो तोक दंजी क्योंकि आपके जीव तो आप कहते हैं कि आखिर तक नाम लेते रहते हैं और काम भी करते रहे तो बंदी छोड़ कहते हैं कि कर्म ब्रह्म ब्रह्मंड के इस ब्रह्मंड के तेरे लाए हुए कर्म है मेरे नहीं कर्म भ्रम ब्रह्मंड के मैं पल में कर हूं ने जिन हमारी दोही दी सो करो हमारा पेश जिन हमारी दुहाई दो हमारे पास भेज दो तुम इसका अरे न मैं पाड़ दूंगा तेरे कागजान बंदी छोड़ी महाराज कहते हैं धर्म राय के कागज की रू युगन युगन मेटू तकसीर के तेरी सारी उम्र का दुख मेट दूंगा इस काल के कागजा नू पाड़ के दर दूंगा निरंजन क्या ना यानी धर्मराज क्या तो फिर भी नो दुख ना माना भाई हंस को कहते हैं कि तू बंदी छोड़ का नाम ले सतगुरु कबीर साहब का दुख नहीं होगा मोरख मन मनवा काल की जनता क्यों सताती है सतगुरु अपना साथी है सतगुरु हरदम मूरख मनवा काल की जनता क्यों सताती है सतगुरु अपना साथी है सतगुरु दम साथी है ज्ञापन गऊ काट कह डाली कैसी करी जठाई कह सिकंदर इस जीवित कर दे जब मनु तेरी खुदाई गाभण गऊ काट कह डाली कैसी करी देखाई कह सिकंदर इसे जीवित कर दे जब मनु तेरी खुदाई बच्चा गऊ तत कहल जवाई फिर दूध दुआती है सतगुरु अपना साथी है सतगुरु हरदम साथी है मूरख वह काल की चिंता क्यों सताती है सतगुरु साथी है सतगुरु हरदम मती पे काल झपट्या सतगुरु करी सहाई कमाल कमाली जीवित की ने सत कबीर दुआई मती पै काल झपट्या सतगुरु करी सहाई हाथ कमाल कमाली जीवित की ने सत कबीर दुहाई सिकंदर की जलन बुझाई वो तो करामती है सतगुरु अपना सखी सतगुरु अर्दम सखी मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है सतगुरु अपना साथी है सतगुरु हरदम साथी है अब साथ में वर्णन करेंगे हम के एक समय जैसे आपको अभी प्रमाण दिया कि ज्ञापन गऊ काट कर डाली कैसी करी जठाई बंदी छोड़ कबीर साहब की ये बात सुनकर हिंदू और मुसलमान दोनों महाराज के खिलाफ हो गए खिलाफ के हो गए ज्ञान के दुश्मन हो गए आप सतकर मान दिए दारू पीणी ने दो बहनों कह दिए दारू नहीं पिया करें भाई माड़ी चीज से दूसरे सुन ले तो सुन देना तीसरे सिर पाओगा नुगरात्रे तो पीऊ सू अपना काम करे देखा को ना सलाह देनी आया सर यानी लड़ पड़ सकता है पर मानेगा नहीं इसी प्रकार सतगुरु महाराज की बात को अमल में ना लाकर और वो भगवान थे उन्हें के द्वेष था भाई उनकी बुराई करने खातिर कुछ अपना स्वार्थ सिद्ध करते होंगे भाई मान ले उनकी दुकान बंद करवा कर अपनी चला रखी होंगी फिर तो मान लेते बस स्वार्थ उसके थे परमार्थ को भी नहीं माना हमने तो सिकंदर लोधी के पास ले गए शिकायत कर दी सब मुसलमानों ने जाकर के क्यों सिकंदर लोधी हिंदुस्तान का बादशाह था मुसलमान तो कहने लगे जी एक काफिर है जुलाहे का छोरा और बहुत हमारे इस्लाम धर्म की तोहिन करे और साथ में हिंदू धर्म की अरे नौका मैं खुद खुदा हूं और मुसलमान खुद खुदा मोमन से दूसरा नहीं मानते ये एक का जो है ना हमारा जो पैगंबर आया था वो ईश्वरीय प्रमाण लेकर आए थे उसके बाद कोई आकार रूप में नौकर मैं खुदा हूं तो उसको पहले ये था कि खत्म भी कर दिया जाओ तो कोई बुरी बात नहीं तो कहने लगे लाओ काफर का पकड़ गए उस महाराज को पकड़ने के लिए दस ए दी गई दस सिपाही को जाकर पकड़ जाए बहुत से लोग इकट्ठे हो गए अकाद शायद आ गई उसकी जो नौका था मैं नौकर दूर नौकर दूर उन्होंने क्या किया कि तू कौन है भाई कबीर अग्नि मैं वैसे तो आप जो कहो वही हूं कि जुलाया जुलाया हूं तूने कहा खुदा है अका खुदा भी हूं अच्छा हाँ बंदी छोड़ने बोले हम ही अलख अला है कुतब गोश और पीर गरीब दास खालिक दनी भाई मेरा नाम कबीर खालिक कहते हैं इस जगत को और खलक खालक खलक कहते हैं जगत को खालिक कहते हैं परमात्मा को कि खालिक धनी मैं खुद परमात्मा मालिक हूं और अच्छा परमात्मा लाम ये भी गुण होता है कि वो जीवित कर सकता मरी हुई गऊ को यानी मुर्दे को जिंदा कर सकता है अखा कर सकता है गऊ लाया रखी थी बछड़े समेत वह काट दी यानी मतलब गर्भ न था दोनों के चार टुकड़े हो गए बोला इसने जिंदा कर दिया अब देख कोड कहानी होगी बंदी छोड़ने दो चुटकी दीर दो थाप मार दी दोनों खड़े हो गए जिंदे हो गए दोनों तो निशान भी नहीं और ला के गऊ का तलबा छड़ा दूध की देख ठोक अब उसने ईसा दिखा कि वो तेरी शायद सही तेरे कहानी होगी मुश्किल सिकंदर लोधी पाया में गिर कर रोन लग जाता है पैर पकड़ देता है न बोला तुम परवरदिगार हो अल्लाह की जात हो मुझे बख्श दो महाराज मुझे ज्ञान नहीं था न बोला बख्श दिया हम के कांत में पर भाई सोच समझ कर ना करा करो पालकिया में बिठा कर बंदी छोड़ को घर छोड़ का है उधर से उनके माता पिता आकर न बोले रे कबीर बेटा नू ना करा कर देख तू नहीं जानता हमारे दुख ने मुश्किल से तो भगवान अल्लाह ने तुझे हमें दिया बरवा भगवान ने अरीब तो इन मत छेड़ा करे ये इनका दया दुया को नहीं ये खत्म कर देंगे माँ ने उसी ममता रहा करो बेटा दिखा कर चाहे वो किमें भी हो जाओ इतनी मतलब उसकी आस्था अग बेटा तो मेरे दुख ने नहीं जानता आत्मा माँ की कितनी नरम होश है और कालजा पाठ पाठ कावा जब तुम पकड़ के ले गई तो महाराज कहते हैं साच कहूं जग मानने नहीं पर झूठ कही ना जाई और कहें साचे जग नहीं मानता पर झूठे जग आई ये भी नम झाड़े लाण लाग जा वो गंडे तागे लाग जाऊ जन सब देश के लोले घर कोई निंदा नहीं करें अरे हिम्मत व बुराई बताओ सो के व्रत करते कोई लाभ नहीं कुतिया बनोगे अगले जन्म गधी बनेगी जो करुआ चौथ की व्रत राखे ये भी सुत काली माने ये मानो तो मान लो भाई जो प्रमाणित इसने लिख राख्या गरीबदास ने कबीर साहब ने हम के कहे कि करुआ चौथ कहे कहानी ताश गधेरी निश्चय जाए व्रत करण कर मुक्ति का साधन भला ये तो स्वाग का हो ये तो कहण की बात से जो दुआ कहने जो बेचारी विधवा हो रही से वह के रक्षा ना करती व्रतों को कि आंट ला दिया उसने के ढाल लड़ाई उस व्रत ने जो करवा चौथाड़े ने तो बात ये है कि हमने देखा देखी पकड़ रखी है लकीर के फकीर बाकी यथार्थ ज्ञान नहीं अब यथार्थ कहा क्योंकि उसमें जकड़े हुए हैं कर लिया हुए ये तो अच्छे कसूते एक हम कर सोलम ना बताने लागे नो गणियों आगे पलड़ गणतर तो भर गई ठाडी साल को दोषित भी ऊपर और हमने ये खरी खरी कही ने अले बस फिर तो हमारा रह गए जितने थे <laughs> मैं बोला यो दाछा कसूता गंगा ना मत तो ही नाटे <laughs> मैं बोला डूब के मर जाओ गंगा में जाओ जब वस्तु है नहीं वहां पर वो सारे नानाले पंडे से कसूते उन किसी कोड लाग रहा किसी के छोरा मर रहा किसी का औलाद नहीं और वो सारी अणवा लाग रहे को कर्म करनी है को सदा मिलेगी ये शास्त्र प्रमाणित है कि गंगा ने जो भागीरथ लाया खोद के यानी अपने तप किया तो उस समय गंगा ने कहा कि हे भगवान मैं कहा आ गई और कहा जाऊं वो तो ऐसे गंदे लोग मनुष्य हैं उसमें नहावेंगे और मुझे भी पापन बना देंगे तो नो बोलिया वहां शंकर विष्णु भगवान और शंकर भगवान कि भाई इसमें महात्मा ना करेंगे तेरे पापा न काट देंगे अब गंगा भी महात्मा के नाम से पाप कटवावा तो गंगा किसके पाप काटे तो बताओ ईशे तो हमने ज्ञान से जब खुद नोक बोली गंगा कि मैं वहां पापण हो जाऊंगी दूषित हो जाऊंगी तो मैं तेरे मैं पापा ने वो संत ना करेंगे वह काट दें और हम वहां कटवाण जाए वह बाट में देखा संत काटे तो ईशे उड़द पुड़द के ज्ञान में भाई कति स्वाद नहीं आया हमने तो पढ़े बतेरे ये और भाई जन्माष्टमी भी रखी गीता भी पढ़ी सारे काम किए परंतु जब यू ज्ञान था न भाई सूरज का गजीरो का बल्लभ समझा हमने तो बाकी चाहे कोई कुछ भी समझेगा तो अब आप सुनोगे तो वहां पर अच्छा एक समय एक इंद्रमती नाम की कबीर साहब चारों युग में आए सतयुग में सतसुकृत नाम से और द्वापर में त्रेता में मुनिंदर नाम से और द्वापर में करुणामय नाम से और कलयुग में कबीर नाम चलेगा जब तक यू कलयुग रहेगा बाकी अवतार और भी होंगे इनके जैसे गरीबदास जी आगे और बहुत अवतार होंगे और भी आते रहेंगे ये लेकिन नाम चलेगा कबीर प्रधान यहाँ पर तो इन्होंने जब ये त्रेता द्वापर युग में आयु हुई थी करुणा में नाम से तो इंद्रमती नाम की बहुत दयालु धर्मात्मा रानी थी उसके पति का नाम चंद्र विजय था और वह भी बेचारी व्रत मोड़ जरी थी व्रत रक्षा करती व्रत के साथ साथ किसी ने नो बता दिया कि भाई आते ही भोजन खवाना चाहिए उसने फिर यो भी प्रण कर लिया कि एक साधु को रोज भोजन खवा कर पाछे मैं अपना व्रत खोलिया करूंगी चलता रहा कई वर्ष तक एक समय कुंभ का मेला आ गया सभी महात्मा भगत जन उधर चले गए तीन चार दिन तक उसने कोई भी साधु नहीं मिला रोटी उसने भी नहीं खाई अब बंदी छोड़ा सारे दुख ने देख कर गरीब कबीर साहब वहां प्रगट हो गए एक सफेद कपड़ा के साधु दाढ़ी सी थोड़ी सिंकस है इस तरह का आक्रम सा बनाकर आगे और उस दिन वह मती ने बोली है बांदी वर्सली तय कहने लागी के ऊपर चढ़ के देख ले बेबे आज आखिरी समय से मेरा सांध नहीं पकड़ूंगी कोई साधु आ गया था तो ठीक से नहीं आज प्राण मेरे छूट जाएंगे अब ऊपर चढ़ती है रानी देखा बंदी छोड़ कबीर साहब आने लाग रहे अरुआ तर तो बांदी के किता किता के नीचे आई बाजी नो बोली हे रानी एक सफेद कपड़ा में साधु से न बोली तू तो बुला लाने अड़ कपड़े देखने हैं कि मेरी जान लकड़ न हो रही बाजी जा तोड़ी वह गई भाग के पां पकड़ लिए एक महाराज जी मारी रानी ऐसे ऐसे प्रण कर रखा है कोई साधु नहीं मिले आप चालो जान बचेगी न बोला बेटी तू कौन है कि मैं तो बांदी हूं अकाछी बावड़ी अब मैं वहां चला गया और मनमान बांधी और रानी या उसका राजा कह दे तू के करना भाई और साधु का तिरस्कार कर दिया जाएगा ना तो वो बहुत नुकसान हो जाएगा भाई वह खुद तो मैं चालू ये वह फिर बाजी की अकरानी नूर नू सक मेरा हाथ पकड़ तोड़ी सी उसकी पकड़ का बा साइड साइड दिशा चल क्यों उत्साह था बेटा भाई कुछ तो जान बचन की किरण उभरी तोड़ी तोड़ी आके जल्दी जल्दी महाराज के पाया में लोट की ने बोली महाराज जी आप तक कहो बुलावन की और मेरी कांधे पर बैठ के चलो आप इतने पूजनीय हो मेरे लिए तो बोला बेटी मैं तो भाव देखूंगा तेरा और साधु भूखा भाव का धन का भूखा ना और जय कोई हो धन का भूखा साधु सुधु ना तो बोला उसी समय महाराज चल पड़े आगे रोटी बनाई सत पकवानी फिर बोले महाराज जी मो अब बेटी मत तो खाया तो ना करूं मेरा तेज पुंज का शरीर से मैं भोजन नहीं करा करता न बोले फिर ठीक से मत तो मरुएंगी यानी इतनी अडिग होगी वह तो समर्थ इसका नाम होता है कि ला बेटी खाऊंगी का तेरी जान बचाने खातिर महाराज ने भोजन पाया फिर ने बोला बेटी ये ओड़ी आठ किसने पकड़ा दी ताई अब मेरे गुरु जी आना क्यों होगा इस व्रत अग्नो कह स्वर्ग मिलेगा महाराज ने बोले कुतिया बनेगी अब नो कंधे उसके कान खड़े हुए क्योंकि दुख बेचे का पर साची बात कहने में हरकत नहीं करे इब चोपड़ी चोपड़ी दर तड़के कुतिया बन के खड़े हो जाए तो फिर के सारा लागे उस मीठे मीठे बोलन ते तेन बोला महाराज जी नो क्यों कर कही आपने अग बेटी सत बताऊ मैं मतरा दुश्मन नहीं अपना खास अपने पिता समझ ले और जो पिता भी साची नहीं कहेगा तो फिर दुश्मन है समझ ले अपना मुझे ज्ञान से इस बात का कहते हैं व्रत जब यू काल पड़ा करे ना सारे भूखे मर के मरे से पशु वीर पक्षी वीर आदमी भी और बिराना का बीस बीस दिन का व्रत हो सके किस दिन का अखंड हो जा और वह गदे की जुनिम जा सके तो इस व्रत तक कोई लाभ नहीं और महात्मा बुद्ध भी कहते हैं starvation could not lead to salvation के ये जो भूखा मरना भक्ति की तरफ इशार नहीं ले जा सकता भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती महाराज जी कहते हैं प्रथम अंदर संयम राख है योग युगत सब सतगुर बाख है कि थोड़ा खाओ क्यों गणा पेट में सूड़ है जैसे पहले तोलिए फिर फिर सीढ़े कराया करते इतना नहीं खाओ अब वैद्य के अंग में आपको सुनावांगे वैद्य का अंग अंग आप बंदी छोड़ गरीबदास जी का सुनिए और फिर सत्यार्थ प्रकाश को मिलाइयो इनके वाणी को सुनकर सत्यार्थ प्रकाश आपको ऐसा लगेगा जैसे सूरज का आगे पचास का मतलब साठ का यह मैं आपको बुराई नहीं करता अर्नब जितना इसमें ज्ञान दे रखा उससे श्रेष्ठतम ज्ञान आपने पावे तो देख लेना वो हम आने वाले कल या परसों से लेना आपको जरूर सुनाएंगे तो इस प्रकार उस रानी की घिघी बंदी अब बेटी आज तक एक बता दे जिसने परतराग का मुक्ति पाई होती सच्चे नाम बिना बात नहीं बने और तीसरा दिन तुम्हें काल पकड़ दिया जाएगा टिटवी दाब का और गदी की दुनी में जाएगी तीसरा दिन मरेगी तुम अब यू मरण का दिन राजा दिन बॉर्डर लागे ईपता डी पाके फिरा हाँ अरनों का दिन डॉक्टर तो जबरदस्त एक दिन का मेहमान से फिर देखा उसके चेहरे की रौनक है